विशिष्टा मोहावायोपलक्ष्य स्वयमयमयो मुक्तिरात्मैव नान्या अपने साधन और साधुता संपन्न है तत्व ज्ञान का फल है निर्भर तो उनका साधन भी है निर्भर जो साधन काल में सरकार रहेगा पहले भगवान का ध्यान कर रहे हैं और डर लगा के कई चोट भगवान का ध्यान होगा तो क्यों कर रहे हमारे मित्र नर्मदा जी को निशान मार चालीस दिन का अनुष्ठान करने लगे और हमारे पास अनुष्ठान किया अनुष्ठान में ये था कि चालीस दिन तक हनुमान जी तक और इस समय से उनको ऐसा मालूम हुआ कि दो भूत आ गए अब ऐसे जरे महाराज मस्तक नाम लेंगे मकान पर से भूत पड़े भूत भूत को मिलता लेकिन हनुमान जी का ध्यान छोड़ते हैं डरा हुआ आदमी अपने साधन में भी निष्ठावान रोग से भी मत करो भक्ति कभी क्योंकि हमें महान विधान है जहां आनंदम ब्रह्मो विद्वान न विवेक को शिक्षा स्वतः चैतन्य अभिन्न ब्रह्म ब्रह्म तत्व ही आनंद है राहुल उसको किसी से भय नहीं होता कैसे भय होगा स्वरूप नाशा मेरा नाश हो जाए ये भय होता है भले मानो आप हो अब तक आप कभी मरे हो बार बार मरते हैं और बार बार जिंदा हो जाते हैं तो ऐसे ही है जैसे प्रेमी लोग जिंदा में बीस बार कहते हैं मार डाला मार डाला मैंने कहा कि आज तुमने मुझे मार डाला उसने कहा कि अब मैंने ही मेरी भक्ति अदा तो लोग दस बार मरते हैं और दस बार निकाल होते हैं और मरना मरना है जीना जीना है ऐसे महाराज यदि तुम अभी अब तक मर चुके हो तो आज होते ही नहीं तुम्हारे स्वरूप ज्ञान का कोई भय तब जब तुम्हारा कारण मर जाएगा पाप मर जाएगा तो तुम मर जाओ कारण नाम से तुम्हारा नाश होगा कार्य नाम से तुम्हारा नाश होगा आश्चर्य नाम से तुम्हारा नाश होगा कौन सा वो जीवित है जिससे तुम्हारा नाश होगा जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो सर्वथा निर्भय हो जाता है साधन में लगते हैं ब्रह्म ज्ञान की ओर डरना लगते हैं एक महात्मा से मैं चर्चा कर रहा था अच्छे महात्मा से मैंने जब तर्क किया कोई तो को बोले कि ऐसे तो बहुत समझ में प्रदुष्ट हो गए मैंने कहा देखो महाराज हमको तो बहुत गई खेल कुछ पालन हमको सत्य हम सत्य के जिज्ञासु हैं सत्य का हमको साक्षात्कार कोई मत जाए कोई मत बना रहे हम किसी मत में हो जाए अमल हो जाए इससे हमारा कोई मतलब नहीं हम लोग उस सत्य का प्राप्त करिए हम सब छोड़ने को तैयार हैं हम उस सत्य से इस चाहे माली का बगीचा गुजर जाए चाहे कुमार का गड़ा टूट जाए निर्भय सत्य के साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ो यह तो साधन का है और यदि साधन में निर्भयता नहीं होगी तो सिद्धि में निर्भयता कहाँ से ये आत्मनिर्भय स्वयं भय अब दूसरी बात यह है कि जैसे बालू के ढेर में सोने के साथ मिल गया तो उनका संशोधन करना पड़ता है हमने देखा बादल के काम में सोने के काम मिले हुए हैं तो में बादल रखे और पानी तो उसको धो रहे उससे क्या होता है कि जो सोने के काम होते हैं वो वजनदार होते हैं वो तो नीचे गए थे और बादल के जो कारण है वो ऊपर आ गए हमको बता रहे स्वर्ण जस्माग्राम सुदेव तारा भागवत का दर्शन स्वर्ण जस्माग्राम सुदेव तारा जैसे पत्थर में बने हुए सोने को सुनाथ मन देता है ऐसे इसके हाथ की प्रपंच में मिले हुए आत्मा को धीरे धीरे पाषाण कल जो अन्वय आदि पुरुष में और उनका निराकरण करके आत्मा को तो सत्व संस्कृति जो है सत्व को बुझना सत्व को सच क्या है सतो भाव असली सच क्या है ढूंढो कैसे ढूंढो उसका शोधन करो जो सत्य के साथ तुमने पूरा कचरा मिला दिया है उस पूरे कचरे को अलग करो ये जो सत्य संशोधन है शब्दों को याद करना नहीं जो वेद पढ़ते हैं ना स्वाध्याय ये तो धर्म का धर्म ब्राह्मण निष्कारण सदंगो वेदो वेदो देव देश स्वाध्याय करना धर्म है और आत्मा का हरे कर्तव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास करना जो श्रवण मनन है ये धर्म का अभिव्यक्ति है ये तो आत्मदर्शन का अंग है आत्मदर्शन का सकल है आत्मा वही हरे द्रष्टव्य आत्मय द्रष्टव्य देखने की चीज अपना आपा है अनात्मा न यहाँ अनात्मा द्रष्टव्य नहीं है आत्मा दृष्टि अगर की चीज को मैं मालूम है तब तो मैं कौन हूँ ये मालूम है माने आत्मा के अज्ञान के अंधकार में ही तुम दूसरी वस्तुओं को जानते हो जानते हो दूसरी वस्तुओं को पर यथा पुरुष छाया प्रश्नों परिषद ने बताया जैसे पुरुष की छाया हमारे अपने आत्मा के अज्ञान के अंधकार में तुम दूसरी वस्तुओं को देख रहे हो तो क्या देखोगे मुझे बता दो अंधेरे की किसी चीज को तुम देख रहे हो तो माने क्या रहे हो यही माने हुआ कि शब्द ही शब्द तुम सुन रहे हो और उसी से अनुमान कर रहे हो कि ये बोलना ये बोलना अर्थ का तो साक्षात्कार नहीं है अतः कबीर नाम सुजावद अर्थ सियाद प्रवक्ता अरे भाई काम चलाऊ नाम है ये बाजार मणम निकालो नाम देने वृत्ति के सत्या जब अपने आप को ही तुम नहीं जानते तो दूसरे को क्या जानोगे वो बोलेगा मेरा नाम मोहन है सोहन है वो जो नाम अपना भूल देगा या दूसरा जो कोई उसका नाम बता देगा कहोगे भाई दूसरे का नहीं नहीं कोई दूसरा नहीं है वो मोहन है अब वो मोहन है कि नहीं ये तो देखा नहीं किसी से सुन लिया तो आत्मा के अज्ञान के अंधकार में हम जितनी चीजें जानते हैं केवल नाम के रूप में केवल शब्द के रूप में जानते हैं इसलिए आओ सबको संस्कृति तत्व का संशोधन करो चरित्र शुद्धि सबसे बड़ी बात है हमारे चार बार चीजों में चारों बार चार बार शब्द का ही चार बार शब्द समझ हुआ है नैरोग पूजा करना आज तक सब जितने हमारे दार्शनिक हुए यहाँ तक के गौ नहीं चार बार तो चटाचक चाहते मर्द किसी के मारे मरण अमर मरले मरण क्यों नहीं मरा लौकिक व्यवहार जो है वो शानदार दर्शक के अनुसारित प्रत्यक्ष ही तो एक प्रमाण है इनके अनुमान उपमान और भरे रह गए बिना प्रत्यक्ष के अनुमान और उपमान और शब्द भी यदि प्रत्यक्ष पर्यवसायी न हो उसमें एक ऐसी बात थी अदालत में इसने दावा किया ये हमारे पूर्वजन की पत्नी है ये हमसे ब्याह दिया क्यों पूर्वजन मानोगे नहीं वहाँ पूर्व जन्म नहीं मानना होगा हमने तुमसे जो कर्जा दिया है उसको इस जन्म में नहीं अगले जन्म में चुका देंगे मानोगे इसको लोकायत बोलना है लोकतंत्र इसका नाम है दंड नीति जो होती है वो सर्वथा प्रत्यक्ष के आधार पर होती है सुनी सुनाई बात को गवाही में दर्ज नहीं किया जाता सटीक गवाह होना चाहिए यदा दो विविधमानों का या काम दो आदमी ब्राह्मण ग्रंथों में आरण्यकों में आ आया यदि दो विविधमान दो वाद विवाद करते हुए मुद्दे मुद्दा में नाम है और एक ने कहा हमने आँख से देखा है और एक ने कहा हमने काम से सुना है काल को प्रमाण नहीं मानना चाहिए आम को प्रमाण मानना चाहिए वो भी कहता है महाराज कि अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए ऐसी चीज नहीं खाना पीना चाहिए कि जो शरीर अस्वस्थ हो जाए मन अप्रसन्न हो जाए सभी चरित्र शुद्ध नहीं रखोगे तो अगला जन्म तो है ही नहीं पिछला जन्म था ही नहीं ये जो शरीर मिला है वो तुम्हारा बिगड़ जाएगा चोरी करोगे बदनाम हो जाओगे कोई विश्वास नहीं करेगा झूठ बोलोगे तुम्हारे बारे में लोगों का प्यार बिगड़ जाएगा विचार करोगे तुम्हारे शरीर की हानि हो जाएगी यश का भी नाश होगा यश का भी नाश होगा शरीर का भी नाश होगा मन की प्रसन्नता भी जाएगी चार बाग मन में भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चरित्र की पवित्रता जरूरी है एक दिन महाराज मेरे पास डॉक्टर जैन का फोन आया किसी के घर में गए थे चिंता करने के लिए स्वामी जी आप आ जाइए अरे भाई जिसके घर में बुला रहे हो वो तो बुलाना ही नहीं तो महाराज आपका शिष्य है तो आप आ तो जाते अब महाराज पेट टूटा हुआ पड़े हुए बेहोश आप उसने कहा कि इनको समझा दीजिए कि यदि अब ये शराब पिएंगे तो मर उनका लीवर बिल्कुल खराब हो गया है कल मरना है तो आज उनका समझाना उनको हाथ पाँव बैठा के पड़े उधर उनकी बहू और बहन दोनों आपस में जाते उस प्रेस की मन को चाहिए उस प्रेस की मन को चाहिए हमको पाँच सौ साड़ी चाहिए हमको चार सौ साड़ी चाहिए और बेचारा मर रहा ये सब महाराज ये पति पत्नी जो है ना ये मरने के साथ हो के भले दूसरे को लगे लेकिन जिंदगी खाता आपके घर में धन बहुत है इस बात को मानते और उसका आदर भी करते हैं आप अपने को पूर्ण जन का पुण्यात्मा करें उसको भी अपने को दे धन है आपके लेकिन जब इस जीवन में आपके सुख है घर में सुख नहीं है परिवार में सुख नहीं है जीवन में सुख नहीं है तो आखिर आपने किया क्या है कल तो आपको पहचाने का नहीं चला जाएगा छोड़ते आप तो पहचानता ही नहीं कि मैं किसका राम तीन रुपया नो मकान ऐश्वरी नहीं पहचानती कि ये मेरे मालिक हैं तुम ऐसी चीज से प्रेम करते हो जो तुमको नहीं पहचानती है जानते करोड़पति नहीं अरबपति करते हैं हम जानते हैं हम पत्नी से डरते हैं पुत्र से डरते हैं हम कहीं बिछ गए न जानते हैं इसको डरते हैं जब डर ही डर समाया हुआ है तुम्हारे जीवन में क्या करोगे जिला लोगे परमात्मा की ओर अच्छा। तो आओ सत्व का पूजन करो सत क्या है सतो भाव हम तो सत्व के बारे में जरा भेद है बहुत क्योंकि अद्वैत वेदांति जो है वो भले गीता में और शांत दर्शन में और योग में सत्व रजत कम का वर्णन हो और अद्वैत वेदांति जो है वो इसके बारे में है जय जय सीताराम ही है एकदम संदन का वो तो अजाम दो लोहित शुक्ल कृष्णा प्रजावहवीः सृजमानाम् स्वरूपाः प्रजावहवीः सृजमान सृजमान स्वरूपाः इस मंत्र का अर्थ ही प्रकृति परक नहीं करते हैं वो कहते हैं तेज आप और अन्न यही दो ही और सीताराम कहो न्याय दर्शी की कम को स्वीकार भागवत में तो बहुत ज्यादा है गीता में बहुत ज्यादा है अन्य दर्शन को स्वीकार करके हम उसका निरूपण करते हैं सत्व की शुद्धि होनी चाहिए इसका अर्थ है कि प्रकृति सत्व को है स्वाभाविक सत्व रजस्तम की सत्व जो है वो ज्ञान और सुख दोनों का जिसके जीवन में जितना सत्व है उतना ज्ञान है और उतना सुख है रजोगुणी के जीवन में कर्म विक्षेप और भोग विक्षेप बहुत अधिक होता है और तमोगुणी के जीवन में निद्रा आलस्य प्रमाद और प्रमाद में सब के सब ये मद जितने सबका सन्निवेश हो रहे हैं और उसमें शराब और भांग और गांजा और अफीम इनका तो संदेश होता ही है एक भाव प्रकाशनम ग्रंथ है वो बड़ौदा में जो है वहाँ जो प्रकाशित है भाव प्रकाशनम ग्रंथ का नाम है उसमें मध के जो इक्कीस भेद लिखे हैं उस इक्कीस भेद में उत्तमांजना के जन्म पद हमारी दीदी बहुत सुंदर है हाँ, इसका नशा होता है हमारी दीदी बहुत सुंदर है इसका नशा होता है हमारे पास बहुत धन है इसका नशा हमारा शरीर बहुत सुंदर है इसका नशा होता है मत का जो प्रसंग है ऐसे संकेत नहीं उसे भी जब लोग आ जाते हैं तो महाराज फिर बीवी पहले को तो नशा में कर देती है और स्वयं मौज करती है वो नशे में गरीबों का तिरस्कार करते हैं शरीर की सुंदरता में समझते हैं कि सब हमारे ऊपर बोलते ही बोल रहे बोलते ही बोल रहे ये सब तो तो विघात से प्रभात जो है प्रभात निद्रा आलस्य तो नशा के मगर हमारे बड़े आचार्य ने छत्र सबल भरी गलती गलती सोना चांदी चांदी की गलती है अब हम भांग पी के बैठते हैं व्याख्यान में सीताराम यदि मूड में ठीक रहे तब तो बोलते हैं अच्छा बोलते पड़ेगा लेकिन कहीं महाराज गुस्सा दिला दो उनको देखो मत बहुत बढ़िया करते हैं बहुत खड़े हो जाते हैं सिंगापुर को और साथ आओ लड़ राजा शास्त्रार्थ में भी तुमको हरा सकते हैं और कुश्ती करके भी हो तुमको हरा सकते हैं ऐसे बड़े खड़े होते हैं हाँ, हाँ। लाखों रुपए का सिंहासन और छत्र चमन और पड़े पढ़े लिखे और खड़े हो जाते हैं बड़े प्रभाव ये बात इसका ध्यान कीजिए ऐसा आ गया भाई भाई को मार रहा है तो और बच्चे पागल होते हो ये स्त्रियां जो शराब पीती है गर्भावस्था में उसमें तो बच्चे बड़ा पागल हो ही जाते अधिकांश पागल बन गए लोगों ये जो दशा है संशोधन करो तमोगुणी निद्रा आदर्श प्रमाद में तुमको मजा आता है तो सत्व में से उनको निकालो तुम्हारे जीवन में वो नहीं है सत्व में माने अंतरकरण में सत्व में माने जीवन में हाँ, सत्व में हाँ, हाँ। तुम्हारे चरित्र में उनके लिए स्थान नहीं अर्थात दूसरी बात है सत्व में से रजोगुण को निकाल केवल क्षेत्र ही जीवन शांति भी तो तुम एकांति जीवन को धारण करते बैठे हो दो मिनट निसंकल्प होकर नहीं बैठ सकते इतना बड़ा दिन जीवन है अरे निसंकल्पता की बात को छोड़ो हाँ। दो मिनट सीधे शरीर से नहीं बैठ सकते शरीर भी दो मिनट से सीधा नहीं कर सकते आप यदि दो मिनट के लिए सीधी हो जाए तब तो पूछते हैं क्या हमारे विज्ञान भैरव आचार्य कहते हैं विज्ञान भैरव में समाधि जायते सम्यक नेत्रो शब्द आप अपने दोनों हाथ की पुतली बिल्कुल स्थिर कर दीजिए दाएं बाएं मत कीजिए ऊपर नीचे कर दीजिए जोर मत लगाइए जहाँ की तहाँ स्तब्ध कर दीजिए अपने नेत्र को जो कि क्यों आपका मन एकाग्र हो जाएगा ये भरा दिल के बराबर आंख के काले काले काला हिस्सा दो मिनट के लिए स्थिर कर दें तो मन एकाग्र हो जाए वो तो करते बनता नहीं ऐसा उद्योगों सारा हिला रहा है हिला रहा है शीशा दिखा हो तो अपना स्वरूप कहाँ से दिखेगा पानी हिलता हो तो अपना स्वरूप कहाँ से दिखेगा तुम मिल रहे हो तो फोटो कहाँ से दिखेगी सीताराम ये रजोगुण तो ने ऐसा प्रदर्शित किया तो सोने जी नहीं रुकते वो थोड़ा तो सा मैंने हिसाब से देखा कोई सौदा नहीं है किसी की चीज दो सोने जी मैंने आप इसको थोड़ी देर कर देंगे हमारे प्लेट में कई लोग आते हैं तो हाँ दरवाजा खोला हमारा प्रेम बिल्कुल मुखरित होता था वो मुबारक होता ये दिवाली खुद से ही मालूम पड़ गया कि जीव तो रुकती नहीं है इतना विक्षेप इतना विक्षेप तुम चाहते हो कि हम एकाग्र मन से परमात्मा का ध्यान करें सत्यों में से कुछ नहीं आवेगा गणित भी नहीं आवेगा वो काव्य भी नहीं आवेगा भाषा भी नहीं आवेगी हमने एक बार प्रयास किया कि जितनी खातरी उनके सिद्धांत में कितने लोग हो सकते हैं कौन सा प्रत्यय होने पर क्या कौन सा प्रत्यय होने पर क्या नारायण कहीं ही नहीं वही प्रवृत्ति का संयोग प्रवृत्ति का अंत है तो अपने आत्मा में है और कहीं नहीं है वही सत्ता है जो पूर्व कष्टे बनकर या हुआ मैं सत्य बना दिए तो आत्मसत्ता है क्या आत्मसंशोधन संशोधन बड़ी बात जब उस सब का ज्ञान होगा संशोधन होगा माने असत में जो सत्य मिल गया है सतो मां सत्य जब है परमात्मा से प्रार्थना करो कि मैं असत में फंस गया हूँ मुझे सत्य का अनुभव कराओ तो सत्य का संशोधन होगा हम पढ़ते हैं न्याय जैसे कोई कहते हैं सोलह पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कोई कहते हैं सात पदार्थों का कोई छह ही मानते ठीक है अब संशय भी जहाँ एक पदार्थ हो उसकी भी चर्चा है खड़े होकर तो महाराज अज्ञान से निकला अज्ञान मिलते का निरूपण सत्ता का निरूपण करना उनको लेकिन असल में वो भी अद्वैतवादी है बात क्या है द्रव्य गुण कर्म सामान्य आदि जो छह या सात पदार्थ अभाव को कोई पदार्थ मानना उसमें भावक जो भाव पदार्थ है वो द्रव्य में भी है गुण में भी है धर्म में भी है सामान्य में भी है बल्कि गुण कर्मादि तो द्रव्याश्रित है और द्रव्य है नव उन नौ में एक भाव पदार्थ है वो अंगत है और वो सामान्य रूप से नहीं है जाति रूप से नहीं है तो क्योंकि सामान्य तो भाव का एक एक जो तो भाव पदार्थ है वो न्याय वैशेषिक में भी एक ही है उसका संशोधन करो सूरज पदार्थ में सात पदार्थ क्या है छह पदार्थ भाव पदार्थ क्या है छह भाव पदार्थों में भावत्व क्या है सीताराम पहुंचा देगा अद्वैत सत्व संशोधन है सत्व संशोधन तत्व मन भाव सीताराम सत्य संस्कृति ये किताब उताब पढ़ लेते हैं कहीं जानकारी सुन लेते हैं कहीं अखबार में पढ़ लेते हैं बोले तो हो गया ज्ञान अरे भाई भीतर जो सोया हुआ है उसको तो जानने दो वो तो जानते ही नहीं है वही तो सोया हुआ है अब विचार करोगे धन का मकान का स्त्री का व्यापार का और सत्य का विचार करने के लिए तुम्हारे जीवन में कोई समय ही निश्चय करो पांच दस उस समय दैनिक और वैयक्तिक स्वास्थ्य और भोग का विचार न करके परमार्थ का विचार करें श्री कृष्ण तो भगवान जी रोज प्रातः काल उठते थे आप लोग बारह में पढ़ना तो प्रातः काल उठते के पहले हाथ पांव धो पवित्र होके बैठ जाते थे आसन पर और तमसक पर स्थान तमोगुण से रजोगुण से प्रकृति से परे जो आत्म तत्व है उसका चिंतन करते वहीं से तो बल आता है वहीं से प्रकाश आता है वहीं से ज्ञान आता है वहीं से सुख आता है पावर हाउस के साथ तुम्हारा संबंध ही टूट गया कनेक्शन ही नहीं है जहाँ से निकल के ईश्वर खड़ा होता है उस जगह को तुम जानते हो और जहाँ से प्रकृति मालूम पड़ती है उसको तुम जानते हो जहाँ से ये पंचभूत मालूम पड़ते हैं उसको जानते हो कौन है तो वो दोनों और तुम अपने आप को भी जानते हो आओ इसका संशोधन करो संशोधित करो इसके साथ जो दुख मिल गया है उसको अलग करो इसके साथ जो जड़ता मिल गई है उसको अलग करो इसके साथ जो मिथ्या मिल गया है उसको अलग करो आपको क्या सत्व संशोधित शांति शास्त्र का तो मुख्य विषय है सत्व मुख्य विषय है शांति शास्त्र का योग विनती करते हैं ईश्वर जो है विशुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व में जो चेतन है और जन्म जन्म जन्म हे हे ईश्वर हे ईश्वर समाज सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना जिस ईश्वर के प्रधान से समाधि की सिद्धि होती है सत्य शुद्ध सत्य उसमें रजोगुण और तमोगुण अभिव्यक्त नहीं हुए हैं तब ईश्वर में क्लेश नहीं है कर्म विभाग नहीं है आशय नहीं है जरा मिलाओ अपने आप को करिश्मा में समझी अहम की परिच्छिन्नता मोहब्बत नफरत दुश्मनी और मौत का डर विशुद्ध सत्व में नहीं होता हम सत्व का शोधन करो इनसे बचो उस सत्व में उस सत्वों में कल करके स्थित हो जाओ जहाँ नासमझी नहीं है परिच्छिता नहीं है जहाँ राग नहीं है द्वेष नहीं है डर नहीं है और कर्म विभाग नहीं है पाप होने की तो हलो सत्य सुख दुख वो नहीं है और आशय मानव संस्कार आदि नहीं होते हैं ऐसा शुद्ध सत्य होता है ईश्वर का और हे भगवान ये शांति योग वाले को कहते हैं योग वाले कहते हैं कि उसका भी विरोध करो अविद्या विद्या के चक्कर में मत करो अविद्या नाम की कोई चीज नहीं ये तो क्लेश है जीवन में क्लेश का नाम अविद्या है अविवेक है शांति में अविवेक होते हैं जितना दुख है तुम्हारे जीवन में सब मूर्खता के कारण है महाराज नाराज पाकिस्तान से लोग आए हुए थे जो बैठा था सभा एक पंडित ने यहाँ पर व्याख्यान दे रहा था उसने कहा कि जो पूर्व जन्म के पापी हैं उनको अपने पाप का फल भोगना पड़ा है अपना घर द्वार छोड़ के पड़ा है और महाराज जितने वहाँ शरणार्थी थे उन दोनों में नाराज एक तो हम लोगों का घर छूटा द्वार छूटा बेटा छूटा बेटी माँ छूटी बाप छूटा और दूसरे तुम तो हमको पापी बताते हो छोड़ो पाप होने का झगड़ा हाँ। जैसे बाप बेटे को पैदा करके शिक्षा देता है वैसे गुरु है वो ईश्वर शिक्षा देता है हमें हाँ, भी शिक्षा दे बहुत बढ़िया है और माता कभी नहीं अनुवंशित तो है लेकिन महाराज योग में उसका भी जब संप्रज्ञात समाधि में ही जब अस्मितानुगत समाधि होती है तो उसको छोड़ देना पड़ता है विशुद्ध तत्व को और महाराज जब असंप्रज्ञात समाधि होती है असम प्रज्ञात समाधि जब होती है तब तो पूछ नहीं मत विरोध में सात सब विरोधावस्था में सब का विरोध हो गया आप देखो सत्व का शोधन करो केवल आत्म सत्ता जो है साक्षी सत्ता ही वहाँ सत्ता के रूप में रहती है कृथात्म हाँ। के नष्ट मात्र राष्ट्र सदन साधारण सांसों ने पूछा वेदांत बहुत करते होंगे जरा इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करो शास्त्रों ने पूछा कि जिसको तुम अविद्या कहते हो वो वस्तु है या वस्तु है वस्तुत्व सिद्धांत कहा नहीं यदि अविद्या वस्तु है तो तुम्हारा अद्वैत सिद्धांत ही काफूर हो गया छोड़ गया एक अविद्या एक ब्रह्म अवस्तुत्व अवस्तुत्व बंधा योगा यदि अविद्या अवस्तु है तो वो बंधन कैसे करेगी अवस्तु से बंधन कैसे होगा छोटो वेदांत की और इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे वेदांत में क्या है हे नारायण तो तत्व का शोधन क्या है शांत ने चार के द्वारा जिस बात को बताया है जो बने प्रयोगात्मक रूप से उस वस्तु का साक्षात्कार करा दिया और सत्व सत्व तो महाराज आत्म सत्व ही है प्रकाश तो के प्रति प्रकृति का भी सत्व नहीं है ये माया है ये माया है और एक बात देखना आप इन लोगों के शरीर है मकान है मकान शांत दृष्टि में क्या है पंचभूत का कारण नहीं है पंचभूत का